चतुर्थ मंत्र का पदभाष्य हो गया था वाक्य भाष्य यद वाचेति मंत्रानुवादो दृष्ट प्रतीते यहाँ मंत्र में अनुवाद किया गया पूर्वोक्त अर्थों को अर्थ का अनुवाद किया गया यद वाचान अभिदितम मंत्र अनुवाद दृढ़ प्रतीते दृढ़ प्रतीति के प्रतीति के निमित्त टीका में यद वाचेति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतितेरिति सूत्रम एतद विभजते यद वाचेति दूत का नहीं यद वाचा इति वाचेति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतिते है ये सूत्र संग्रह सूत्र संग्रह सूत्र वाक्य एतद विभजते इसका विभाग व्याख्यान करते हैं भाष्य में अन्य देव तद योयम आगमार्थो ब्राह्मणोक्तो अस्यैव दृढिम्ने मंत्रा यद्वाचे इत्यादयः पठ्यन्ते अन्य देव तद विदिता अथवा अविदिताद अधि योयम आगमार्थ आगम का अर्थ कहा गया इस वाक्य के द्वारा ब्राह्मण भाग ब्राह्मणोक्त ब्राह्मण भाग में कहा गया अस्यैव दृढिम्ने मंत्रा इसी को ही दृढ़ करने के लिए आगे मंत्र है एक नहीं यदवाचा से लेकर के चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम सब यदवाच इति मंत्र अनुवाद रूप है जो कहा गया उससे अर्थ को दृढ़ करने के लिए मंत्र यदवाच आदय अनुवाद मंत्र पठ्यन्ते यद ब्रह्म वाचा शब्देन अनभ्युदितम अनभ्युक्तम अप्रकाशितम इतेतत यद वाचा अनभ्युक्तम यद वाचा वाचा का अर्थ शब्द न शब्द के द्वारा न अभ्युक्तम अनभ्युक्तम का अर्थ अन अनभ्युक्त अनभ्युदितम यद वाचा अनभ्युदितम नहीं कहा जाता है अप्रकाशितम शब्द के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है इतेतत टीका में येन वाग अभिद्यते इति अनेन वाग प्रकाशे हेतुत्वोक्तिर ब्रह्मण क्रियते इति योना यद वाचा अनभिद्युतम येन वाग अभिद्यते येन वाग अभिद्यते जिसे वाग प्रकाशित होती येन वाग अभिद्यते इति अनेन वाग अनेन वाग प्रकाशे हेतुत्वोक्तिर ब्रह्मण ब्रह्मण हेतुत्वम तस्य उक्ति हेतुतम कुत्र वाग हेतु हेतुत्वम कस्य ब्रह्मण कुत्र वाग प्रकाश के लिए हेतु है ब्रह्म उसका कथन हेतुत्व से उक्ति हेतुत्व से उक्ति के न मंत्रेण ये न वाग अभिदते अन ये न वाग अभिदते इसी मंत्र वाक्य के द्वारा ब्रह्म में हेतुत्व कहा जाता है ब्रह्म हेतु किसके लिए वाक प्रकाश है वाक को प्रकाश करने के लिए ये न वाक अभिदते जिससे वाक प्रकाशित होती वाक का प्रकाश करने के लिए हेतु है ब्रह्म ब्रह्म में हेतु तो यह न वाक अभिदते ये एत सूत्र विवृणति यद ब्रह्म वाचा शब्देन अनभिदितम अप्रकाशितम येन वाग अभिदते इति वाक प्रकाश हेतु तुक्ति ये संग्रह वाक्य हो गया ये तो सूत्रम ये सूत्र है बीच में येन वाग अभिदतेति वाग प्रकाश हेतु तुक्ति वाग प्रकाश वाग प्रकाशे हेतुत्वम ब्रह्मण तस्य उक्ति तस्य कथनम इसका व्याख्यान आगे येन प्रकाशतेति इति वाचो अभिधानस्य अभिधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः येन वाग अभिद्यते इसके द्वारा येन वाग अभिद्यते का तो प्रकाश्यते वाग प्रकाश्यते येन प्रकाश्यते येन प्रकाश्यते वाग वाग का प्रकाश होता है यदि अभिधानस्य वाह के शब्द शब्द होता है वाचक अभिधान अविद्यते अनेनैत अभिधान वाह के अभिधान शब्द है वाचक और अर्थ का प्रकाश होता है शब्द के द्वारा शब्द कहेंगे तो अर्थ का ज्ञान होता है अभिधेय प्रकाशकत्व से वाक है शब्द अभिधान अभिधान में अभिदेय प्रकाशकत्व अभिदेय अर्थ का प्रकाशक ज्ञापक होता है शब्द शब्द सुन करके अर्थ ज्ञान होता है अभिधान और अभिधेय अभिधान नहीं तो अभिधानम वचनम शब्द और इति अविधेय जो कहा जाता है शब्द के द्वारा अर्थ है अविधेय तो वाक्य अविधान शब्द है शब्द अविधेय का प्रकाशक है अर्थ का प्रकाशक है शब्द उच्चारण करने पर अर्थ का प्रकाश होता है प्रकाश का अर्थ घट कहेंगे तो घट में आलोक आ जाएगा अर्थ का प्रकाशक अर्थ ज्ञान जनक अर्थ ज्ञान जनक होता है शब्द अभिधानम अविधेय ज्ञान जनकम किंतु अभिधान में अविधेय ज्ञान जनकत्व है ये किस प्रकार कहाँ से आया उसका हेतु है ब्रह्म शब्द में अर्थ ज्ञान जनकत्व जो आया वो अर्थ ज्ञान जनकत्व का हेतु क्या है शब्द जड़ में अर्थ ज्ञान अर्थ प्रकाश हेतु तो कैसे आएगा स्वयं तो प्रकाश रूप नहीं वो हेतु तो आया ब्रह्म से हेतु है ब्रह्म अर्थ प्रकाशकत्व का हेतु है ब्रह्म हेतुत्वम चते ब्रह्मण ब्रह्म हेतु किसका हेतु अर्थ प्रकाशकत्व का अर्थ प्रकाशकत्व कहाँ रहेगा शब्द में जो रहा अर्थ प्रकाशकत्वम उसका हेतु है ब्रह्म अर्थ प्रकाशकत्व से हेतुत्वम चते ब्रह्मण है ब्रह्म हेतु उक्तम च केने सीतां वाच मिमां वदन्ति यद वाचो वाचमिति ये कहा गया केन किस किससे प्रेरित होकर इमाम वाच बदनती ये शब्द कहते हैं तो शब्द जो उच्चारण करते हैं शब्द में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य जिस ब्रह्म से आया यद वाचो वाचम वाक का भी वाक कहने से वाक में जैसे सूत्र से सूत्रम सूत्र में शब्द ग्रहण सामर्थ्य है शब्द ज्ञान जनक उसमें जो सामर्थ्य है श्रोत्र से श्रोत कह करके ब्रह्म कहा इस कह वाचो वाचम वाक विवाक उसको जान करके अमृता भवंती तदेव ब्रह्मत्व विद्धि इति अविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मनि अवस्थापनार्थ आमनाय तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपासते यज वाक्ये तदेव ब्रह्मत्व विद्धि तदेव ब्रह्मत्व विद्धि इति अविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मनि अवस्थापना अविषयत्वेन ब्रह्मण ब्रह्म अविषय चक्षुरादि इंद्र का विषय नहीं जिसे वाक वाक से जो प्रकाशित नहीं चक्षु से जो नहीं दिखता है देख सकता है इस प्रकार इंद्र का विषय नहीं है अविषय है ब्रह्म तदेव तम ब्रह्म जिससे प्रकाशित होता है वाक उसको ब्रह्म समझो ये विषय नहीं ब्रह्म अविषय है अविषयत्वेन ब्रह्म ब्रह्म अविषय होने से विषय को बाहर ढूंढना दौड़ता है देखने के लिए इंद्र बाहर जाते हैं साधक विषय होता है बाहर परमात्मा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है श्रुति कहती ब्रह्मण अभिषेत्वेन आत्मनि अवस्थापनार्थ आमनाय अपने स्वरूप में अवस्थापन करने के लिए ब्रह्म विषय नहीं आत्मा है आत्मा में अवस्थापन करना कराने के लिए स्थिर कराने के लिए अवस्थापनार्थ यामना वेद वाक्य है ब्रह्म विषय नहीं है इसलिए वेद्यत्व नहीं होगा अहम मैं ही हूं ऐसे ज्ञान होगा इदम तेन तद इदम ऐसा नहीं विषय नहीं क्योंकि ब्रह्म स्वस्वरूप है अभिषय है टीका में तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि आमनाय आत्मनेव बुद्धिर अवस्थापनार्थम उप अवस्थापनार्थ उपसंहारार्थ तदेव ब्रह्मत्वम विधि तुम उसको ही ब्रह्म समझो इत्यादि आमनाय वेद वाक्य आत्मनि अवस्थापनार्थ आत्मा में रखने के लिए किसको बुद्धि को आत्मनेव बुद्धिर अवस्थापनार्थ बुद्धि का आत्मनि अवस्था अपने आत्मा में रखने के लिए अवस्थापन स्थिर कर देने के लिए अवस्थापन उसमें स्थिर कर देना बुद्धि को बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए बुद्धि से विषय ग्रहण होता है इधर-उधर सब किंतु सब से हटा करके बुद्ध आत्मा में स्थिर करने के लिए आमना है वेद वाक्य उपसंहारत उपसंहार करने के लिए आत्मा अनात्मा दोनों स्वाभाविक है तदेव ब्रह्म कह करके अनात्मा चिंतन छोड़ करके आत्मा में ही स्थिर हो जाए अविषयत्वेन ब्राह्मणो अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्यत्व संभवात इति योजना अविषयत्वेन ब्रह्मण ब्रह्म अविषय विषय नहीं है इसलिए विषय नहीं होने से अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्यत्व संभवात जो विषय है अपने से भिन्न रूप से वेद्य होता है घटपट रूप प्रसाद ये इंद्र का विषय है इसलिए अतिरिक्त स्वरूप से वेद्य होता है किंतु ब्रह्म अविषय अविषय होने से अतिरिक्त स्वरूपेण वेद्य नहीं होगा विषय नहीं होने से विषय होता अपने से भिन्न अतिरिक्त रूप से एकदम तद वेद्य होता है स्वस्वरूप होने से अतिरिक्त स्वरूप से वेद्य नहीं होगा ब्रह्म भिन्न रूप से वेद्य नहीं होगा अहम अस्मि ऐसा वेद्य एत सूत्रम विभजते ये भी संग्रह वाक्य है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि अविषयत्वेन ब्रह्मणा आत्मनि अवस्थापनार्थ अमनाय इसका ही व्याख्यान यद वाचान अभिदितम वाक प्रकाश निमितम च इति ब्रह्मण अभिषयत्वेन वस्तुअंतर जिघृक्षाम निवर्त्य स्वात्मनि अवस्थापयत्यामनाय तदेव ब्रह्मत्वं विद्धीति यत्र तो परमेति यद वाचा अनभिदितं वाक प्रकाश निमितम च यद वाचा अनभिदितं येन वाक् अभिद्यते येन वाक अभिद्यते कह करके वाक प्र, जो प्रकाश करता है करते है उसका निमित्त है वाचा प्रकाश होता है अर्थ का उसका निमित्त है ब्रह्म यद वाचा अनभिदितम वाक के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है शब्द अर्थ को प्रकाश करता है किंतु ब्रह्म को नहीं ब्रह्म से भिन्न शब्द अर्थ ज्ञान कराएगा शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं होने से किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है इसलिए शब्द ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है वाचा नविदितम अप्रकाशितम वाणी के द्वारा जो नहीं कहा जाता है शब्द का विषय नहीं है किंतु बाहर प्रकाश का निमित्त है शब्द का विषय नहीं शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं शब्द से नहीं कहा जा सकता है और शब्द प्रकाश का निमित्त शब्द जो घटपट आदि अन्य को प्रकाश करता है अर्थ को ज्ञान कराता है उसका निमित्त है ब्रह्म शब्द प्रकाश करता है ज्ञान कराता है उसका निमित्त है ब्रह्म और शब्द के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म अविषयत्वेन ब्रह्म अविषय है विषय नहीं है इंद्रिय मन आदि का वस्तुअंतर जिघृक्षा ग्रहित ग्रहितमिच्छा जिघृक्षा अन्य वस्तु ग्रहण करने की इच्छा है ग्रहण है ज्ञान ग्रहण करना अर्थ जानना अन्य वस्तु को जानने की इच्छा है परमात्मा को जानेंगे परमात्मा कहाँ है अन्य को जानने की इच्छा होती है परमात्मा को जानने की जो इच्छा जिज्ञासा जिगृक्षाम निवर्त्य निवृत्त कर करा देती श्रुति या यद वाचा नविदितम वाग प्रकाश निमितम कह करके आमना वेद भगवान ब्रह्म अभिषय होने से अन्य वस्तु ग्रहण करने की जो इच्छा है जिज्ञासा उसको शांत करा देते हैं अन्य वस्तु नहीं अपना स्वरूप ही ब्रह्म है निवर्त जिगिरिछाम निवर्त्य ग्रहण करने की इच्छा जानने की इच्छा जिज्ञासा निवृत्त करके स्वात्मनेव अवस्थापयति आमनाय आमनाय वेद स्वात्मनेव अवस्थापयति आत्मा में स्थिर कर देता है बुद्धि इधर-उधर वस्तु ग्रहण करने की इच्छा करती है जानना चाहता है सब कुछ जितने सब छोड़ करके अन्य वस्तु छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थिर कर देता है आमनाय तदेव ब्रह्मत्व विद्धि इति यत्न तो उपरमयति यत्न से बाह्य प्रवृत्ति से उपराम कराती है श्रुति वेद भगवान आमनाय यत्न से उपरामयति तदेव ब्रह्मत्व विधि तदेव ब्रह्म विधि करता अन्य बोध के लिए प्रयत्न नहीं करो अन्य कुछ जानने की इच्छा नहीं करो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्षामि गीता में भगवान कहते ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्षामि ज्ञेय एक वचन है यत् तत् प्रवक्षामि बहुत जानने के नहीं है योग्य सारा संसार जितने हैं बहुत पदार्थ जानने की इच्छा करे जान नहीं सकते अनंत पदार्थ एक ही ज्ञेय ब्रह्म है उसको जानना है एक ब्रह्म को जानने की इच्छा और सब अन्यत्र जो जानने की इच्छा है छोड़ो अन्यतर प्रयत्न नहीं करो संसार विषय में संवाद कभी कितने गर्मी कभी कितने ठंडा कभी कौन मर गया रोज आज हम को हम गया कल वहां भूकंप हुआ कल वहां वर्षा हुई ये रोज चलता रहता है बैठो बैठो कल्पना कर लो आधे घंटे में क्या लगता है भूकंप नहीं हो तो अभी करो यहाँ का भूकंप हो गया वहाँ टूट गया वहाँ समुद्र ऐसे हो गया सो गया वहाँ हिमालय आधा टूट गया ऐसे होता रहता है खबर इसको देखकर पढ़ के क्या करना संसार की सृष्टि और प्रलय इसका चिंतन करो इतने बड़े संसार उसका प्रलय हो जाएगा सृष्टि के पहले नहीं था सृष्टि हुई है और ये सृष्टि प्रलय देह जन्म मरण ये सब मिथ्या है झूठा है दिखता है ये सब कुछ नहीं है सब देखने वाला दृग रूप आत्मा सत्य है दृश्यत तो मिथ्या ही है स्वप्न दृश्य जैसे यही चिंतन करके दृग रूप अपने स्वरूप में स्थिर करा देता है वे आमनाय अन्यत्र यत्न करके उपराम उपराम करा दे अन्य विषय को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करो यत्न तो उपरमिति नेदम इति उपास्य प्रतिषेधाच और नेदम यदि तुम उपासते यह ब्रह्म नहीं जिसकी वेद बुद्धि से उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है भिन्न यदि इदम इति उपासते यदि इदम इस प्रकार इदम तेन अपने से भिन्न रूप से जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं उपास्य का प्रतिषेध उपास्य ब्रह्म नहीं है चतुर्थ मंत्र हो गया पंचम मंत्र यन मनसा नमनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यद मनसा न मनुते से मनन नहीं कर पाता है लोग कोई येन मनोमतम इत्याहु मन ही विषय किया जाता है मन से विषय नहीं कर पाता है मन को जो विषय करता है जिसके द्वारा यह है ना मनोमतम आहु मन का प्रकाशक मन भी विषय रूप रस घटपट आदि को विषय करता है विचार करता है मन प्रकाशित होता है चिद्रूप चेतन से व्याप्त होकर के मन विषय को प्रकाश करेगा मन प्रकाशित तो होता है मन का भी प्रकाशक तदेव त्वम ब्रह्म विधि उसको ब्रह्म समझो न इदम यदि इदम उपासते यदि इदम इस प्रकार उपासना करते वेद बुद्धि से परिच्छिन्न की उपासना करते हैं वो परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है उपाधि भेद से भिन्न जिसकी उपासना करते वो नहीं है यन मनसा न मनुते यहाँ मन शब्द से अंतकरण लेना अंतकरण की वृत्ति है मन बुद्धि भी एक वृत्ति है निश्चयात्मिक वृत्ति को बुद्धि कहते संकल्पात्मक संशयात्मक मन संकल्प मन कहते हैं तो कहीं कहीं अंतकरण को भी मन शब्द से बुद्धि शब्द से कह देते हैं तो यहाँ मन शब्द से मन ही तो अंतकरणम अंतकरण कह देंगे तो बुद्धि मन दोनों का ग्रहण हो जाएगा मन अंतकण अंतकरण बुद्धि मनसो एकत्वेन गृह्यते मन शब्द से अंतकण गृह्यते बुद्धि मन एकत्वेन बुद्धि मन एक रूप है और चित्त अहंकार भी संतर्भूत अंतर्भूत हो जाएंगे तो एक मन से ग्रहण हुआ अर्थात अंतकण का विषय नहीं है मनुते अनेनैते मन सर्वकरण साधारणम मनुते अनेनैते मन जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है जानता है मन अनुत अनित मन मन हो गया सर्वकरण साधारण जी के सब रूप रस घट आदि का ज्ञान होता है तो सबके लिए मन साधारण है यदि मन एकाग्र नहीं है तो चक्षु खोला होने पर भी रूप बाहर वस्तु देखेगी नहीं कान खोला है शब्द सुनाई नहीं पड़ता मन कहीं दूसरे स्थान पर है पूछते तो कहते अन्यतर अभुवम ना श्रोसम मन अन्यतर था सुन नहीं पाया नहीं देख पाया तो मन है अंतकरण सर्वकरण साधारण तार्किक लोग भी बताते हैं मन के साथ इंद्रिय के साथ मन का मन का आत्मा के साथ संबंध होगा तभी ज्ञान होता है ज्ञान होने के लिए आत्मा मन संयोग कारण है असाधारण कारण आत्मा मन संयोग सामान्य ज्ञान के प्रति कारण है मनुत्य अन्यनिति मन सर्वकरण साधारण है सब चक्षुरादि करण का साधारण चक्षुरादि इंद्रिय से ज्ञान होने के लिए मन साधारण है सर्व विषय व्यापकत्वात् तो सर्व विषय व्यापक है मन सब विषय के साथ संबंध हो जाता है इंद्रिय विषय का इंद्रिय से विषय का ज्ञान होता है ज्ञान होने के लिए विषय के साथ इंद्रिय का संबंध हो जाता है सब विषय के साथ इंद्रिय मन इंद्रिय के द्वारा मन बाहर जा करके विषय के साथ संबंध हो जाता है जब विषय बाहर नहीं शब्द सुनता है धूम से वन्य ज्ञान होता है तो वन्नी के अंदर वन्याकार वृत्ति होती है जब सामने वस्तु है इंद्रिय का संबंध होता है तो मन बाहर जाता है नहीं तो विषय को चिंतन करता मन में तदाकार वृत्ति विषयाकार वृत्ति होती है तो विषय का संबंध जहाँ प्रत्यक्ष वस्तु है वहाँ इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होता है जहाँ प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ भी विषयाकार वृत्ति होती है सर्व विषय व्यापक सारे विषय का व्यापक है मन मन को तार्किक लोग कहते हैं ज्ञान मन को मन के अलग पदार्थ कहते हैं ज्ञान उत्पन्न होता आत्मा में से कहते हैं न्याय शास्त्र न्याय वैशेषिक किंतु श्रुति कहती ज्ञान आत्मा में कोई विकार नहीं है सब मन में है वृत्ति अंतकण का परिणाम वृत्ति है ये सब काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर अधृतिर हिरीर धीर वीर इत सर्वम मन ही वैति श्रुते ये सब मन ही है ये सब मन कहने का अर्थ जैसे घट सब मिट्टी है सुवर्ण का भूषण बना ये सब सोना है उपादान कारण सुवर्ण होने से उसके कार्य भूषण को सोना कह सकते हैं सुवर्ण निर्मित जितने भूषण सब सोना है मिट्टी से बना गया जितने बर्तन सब मिट्टी है ये उपादान कारण के साथ कार्य का ऐसे समानाधिकरण होता है घट मृद पटह कारपास करपा से बना उर्ना से बना ऐसे कहते हैं भूषण को सोना कहते हैं दंड चक्र कुलाल घट बनाने के लिए निमित्त कारण है कभी नहीं कहते घट दंड घट कपाल घट कुलाल कह जाता है घट कुलाल कुलाल कारण है दंड भी कारण है किंतु घट को कुलाल दंड ऐसा नहीं नहीं, नहीं कहते उपादान कारण कहा जाए घट मृत उपादान कारण के साथ कार्य का अधिकरण प्रयोग होता है यहाँ श्रुति कहते काम इच्छा है संकल्प है वृत्ति है विचिकित्सा है संशय श्रद्धा अश्रद्धा उसका विपरीत धृत्य धारण शक्ति अधृत उसका विपरीत ह्री है लज्जा धी है ज्ञान भी भय इति एत सर्व मन विषय मन ही है सब मन का अर्थ मन है उपादान कारण मन में उत्पन्न होते हैं मन का सब वृत्ति मन का परिणाम वृत्ति है ये श्रुति प्रमाण से ये सब बुद्धि संकल्प श्रद्धा सब मन में उत्पन्न होते हैं न कि आत्मा में तर्क में जैसे कहा गया वो मन के साथ आत्मा का तादात्म्य होता है इसलिए अंतकण को आत्मा समझ लेते हैं यही अनादि अध्या काल से इतरे तरह अध्यास अंतकण के साथ आत्मा का एकत्व अभ्यास होने से कोई बुद्धि को कोई मन को कोई प्राण को आत्मा समझ लेते हैं एकत्व अभ्यास आरोप होता है तो मन अलग आत्मा अलग ऐसे अलग यदि ज्ञान हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा में कोई धर्म नहीं सब मन में है जल में चंद्र का आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल में कंपन होने से आकाश में प्रतिबिंब कंपन दिखता है यहाँ जल अलग आकाश अलग दिखा गया तो समझ में आ जाता है जल में आकाश का प्रतिबिंब और जल का कंपन प्रतिबिंब में दिखता है इसी प्रकार यदि अंतकण अलग और आत्मा अलग दो का अलग-अलग ज्ञान हो जाता तो स्पष्ट हो जाता अंतकण में आत्मा दिखता है अंतकण का कंपन आत्मा में दिखता है अंतकण में वृत्ति है सुख दुख आदि आत्मा में दिखते हैं किंतु यहाँ जब अंतकण दिखता है चिदाभास से विशिष्ट ही दिखेगा अज आत्मा अंतकण में अभिव्यक्त होता है बाहर दीवार में पत्थर में सर्वत्र आत्मा होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है अंतकण में अभिव्यक्ति चिदाभास इसलिए चिदाभास जहाँ है उसको हम जीव कहते हैं चिदाभास नहीं तो जड़ कहते हैं शुद्ध चिद्रूप चेतन सर्वव्यापक होने पर भी अंतकण है तो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है इसको चेतन कहते हैं जहाँ अंतकण नहीं है वहाँ चैतन्य रहेगा चैतन्य रहने पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं होने से उसको जड़ कहते हैं तो ये ये अंतकण के साथ चेतन का तादात्म्य अध्यास होने से जो अंतकण का धर्म वो आत्मा में दिखता है इसलिए ज्ञान सुख दुख आदि अंतकण में जो उत्पन्न होते हैं उनको आत्मा में मान लेते हैं तर्क शास्त्र में क्योंकि लोक में उसको आत्मा समझे बैठे सब अंतकण आत्मा का एकत्व लगता है अंतकण का धर्म आत्मा में आत्मा का धर्म अंतकण में चेतनो हम करोमि अहम चेतन हम आत्मा का चैतन्य करो में कर्तृत्व बुद्धि में चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है तो कर्तृत्व आत्मा में चैतन्य बुद्धि में ऐसा आरोप होता है दोनों का एकत्व आरोप होने पर परस्पर धर्म का आरोप होता है लौह लौह और लौह पिंड अग्नि लौह पिंड को अग्नि में रखेंगे तो लाल हो जाएगा अग्नि लौह का एकत्व दिखता है कोई कहता है लोह कोई कहता अग्नि लोह भी अग्नि है दोनों एक साथ मिल जाने से अग्नि का दग्धृत्व दाहकत्व तो लोह में दिखता है लोह में वर्तुलत्व आकार है गोलाकार वो अग्नि में दिखता है दोनों के एकत्व ब्रह्म होने से परस्पर धर्म का आरोप होता है अंतकण के साथ आत्मा के एकत्व अध्यास होने से आत्मा का चैतन्य मन में दिखता है बुद्धि में और मन बुद्धि का संकल्प सुख दुख ज्ञान सब आत्मा में दिखते हैं ये किंतु श्रुति कहते त सर्व मन कहने से मन का ही धर्म है संकल्प बुद्धि आदि सब भय धी ज्ञान धी सब से ज्ञान लिया वृत्ति कामादि वृत्तिमन मन मन होता है वृत्ति वाला काम संकल्प विचिकित्सा ये सब वृत्ति है वृत्ति है परिणाम अंतकरण का परिणाम विचिकित्सा काम संदेह कामादि वृत्तिमत वृत्तय अस्मिन संति अस्य संति वृत्तिमत वृत्तिमत कौन है मन तेन मनसा ये मन का अर्थ कर दिया कामादि वृत्ति वाले मन है जिस मन का ये सो परिणाम वृत्ति है काम संकल्प संदेह श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति हिरी लज्जा धी भय ज्ञान सब वृत्ति वाला है मन तेन मनसा तेन मनसा न मनुते उसी मन से न मन मनुते उसे मन से विषय नहीं कर पाता है लोग कोई आत्मा ब्रह्म को तो मन से कैसे मन होता है यह चैतन्य ज्योति मन स्वभासकम न मनुते घटपट आदि को तो मनन करता है चिदाभास विशिष्ट होकर के घट को प्रकाश कर लेता है पट को रूप रस को ग्रहण कर लेता है चक्षु संबंध होने पर वृत्ति जा करके घट देश में व्याप्त हो जाती है और वृत्ति में चिदाभास रहने से घट को प्रकाश करता है किंतु मन का जो प्रकाश है के चैतन्य ज्योति मनसा यह चैतन्य ज्योति चैतन्य ज्योति मनसो अवभासकम मन का भी प्रकाशक है मन का जो प्रकाशक है वो, वो चैतन्य ज्योति में प्रकाशकत्व रहेगा प्रकाश्यत्व रहेगा प्रकाशकत्व प्रकाशक है वो प्रकाश्य मन के द्वारा नहीं होता है मन का भी जो अवभाषक प्रकाशक जो वस्तु का प्रकाशक सूर्य वस्तु सूर्य को प्रकाश नहीं कर सकती है मन का अवभाषक मन स्वयं प्रकाशित होता है ब्रह्म के द्वारा चिद रूप प्रकाश से प्रकाश युक्त चिदाभास वाला हो करके ही मन विषय को प्रकाश करेगा मन जड़ है घटपट आदि को मन कैसे प्रकाश करेगा चेतन के प्रतिबिंब से युक्त होने पर जड़ अंतकण भी चेतन जैसे लगता है जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होने पर जल भी प्रकाश दिखता है दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब हो तो दर्पण को भी नहीं देख सकते सूर्य प्रतिबिंब इसी प्रकार मन तो जड़ है चेतन प्रतिबिंब युक्त होने से चिदाभास विष्ट होने से चेतन जैसे लगता है वो मन तो घटपट आदि को प्रकाश करेगा किंतु जिससे प्रकाशित होकर के घट को प्रकाश करता है ब्रह्म उसको प्रकाश नहीं कर सकता है न मनुते मन प्रकाश करेगा तो क्या करेगा किसी विषय में संकल्प करेगा निश्चय करेगा इसे न यहाँ न मनुते का तो न संकल्प इति नापि निश्चिनोति संकल्प वृत्ति से का विषय नहीं होता है ब्रह्म नापि निश्चय वृत्ति का ब्रह्म निश्चय निश्चय भी नहीं करता है प्रकाश नहीं करता है मन सदस्य अंतकरण लेने से बुद्धि मन एक लेकर के निश्चय भी नहीं करता है संकल्प भी नहीं करता है मन उसको प्रकाश नहीं कर पाता है मन बुद्धि उसको प्रकाश नहीं कर पाते हैं ज्ञान मनसा न मनते मनस अवभाषकत्वेन नियंत्रितवात मन का अवभाषक प्रकाशक है मन का अवभाषक रूप है नियंता है मन का प्रकाशक है ब्रह्म वो नियामक नियम नियंता है नियंता होने से वो स्वयं नियामक है ब्रह्म को प्रकाशक है मन के द्वारा प्रकाशित नहीं सर्व विषयं प्रति प्रत्येक वीति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतकरणम सर्व विषयं प्रति एव स्वभाष्यम सर्वं प्रति चैतन्यम इति स्वात्मनि तस्मिन् अंतकरणम स्वभाष्यम सर्वं प्रति मन के द्वारा प्रकाशित जितने हैं सबका प्रति सर्वम प्रति प्रत्येक आत्मा है वो चैतन्य सबके प्रति प्रत्येक आत्मा ही चैतन्य सबका स्वरूप है जे सब विषय प्रति सर्व विषय प्रति प्रत्येक एव सारे विषय के प्रति मन मन के विषय के प्रति आत्मा प्रत्येक एव सबका आत्मस्वरूप है प्रत्येक आत्मा इसलिए मन का भी आत्मस्वरूप है ब्रह्म इति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतकण अंतकण अपने स्वरूप आत्मा में प्रवृत्त नहीं होता उसको विषय नहीं कर पाता है अन्य को तो विषय करता रूप रस घटपट आदि को किंतु स्वयं उसका आत्मस्वरूप प्रत्येगात्मा ही है जो मन के द्वारा प्रकाशित तो सबका प्रत्येगात्मा आत्मा है आत्मा को विषय नहीं कर पाता स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतकण अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिष आभासितस्य मनसो मनन सामर्थ्यम मन में जो मनन सामर्थ्य है विषय प्रकाशन सामर्थ्य कहाँ से आया मन तो जड़ है मन चैतन्य ज्योति से अवभाषित होकर के चैतन्य ज्योति से प्रकाशित है वो चैतन्य ज्योति कहाँ आया सर्वव्यापक है मन के अंदर भी है अंतस्थे नहीं चैतन्य ज्योति सा अंदर स्थित है मन के अंदर स्थित चैतन्य ज्योति अंदर बाहर सर्वव्यापक है ए मन जहाँ भी जाए चैतन्य जति वहां है तो धाव तो अन्यानत्यति तिष्ठत मन दौड़ करके जहां जाएगा चैतन्य जति वहां पहले से जैसे कि पहले पहुंच गया मन दौड़ कर जाता है मन जाने के लिए समय नहीं लगता है अब यहां बैठ कर ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के चार तरफ घुमा लो मन को तीन बार सात बार दस बार घूम करके आ जाएगा घूमता ही रहता है किंतु मन जहां जाता है चैतन्य ज्योति वहां है इसे मन को भी अतिक्रम कर लेता है जैसे कोई दो दौड़ते हैं जो अतिक्रम करता है पहले पहुंच जाता है दूसरे व्यक्ति जो पहुंचे वो देखा पहले पहुंचा हुआ मन दौड़ करके जहां पहुंचता है वहां पहले से चैतन्य जैसे विद्यमान है इसे मन को भी अतिक्रम कर लेता है तो मन का मन का प्रकाशक है इसलिए सूक्ष्म शरीर चल जाता है मरते समय जहाँ जाएगा वहाँ चिद रूप चेतन बिंब रूप आत्मा है उसके आत्मा के संबंध से मन में चिदाभास जीव तभी वहाँ जाकर के स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है जहाँ भी जाता है जाता है अंतकण आत्मा नहीं जाता है शुद्ध आत्मा सर्वत्र विद्यमान है जहाँ मन जाएगा वहाँ चिदाभास हो जाएगा क्योंकि चेतन बिंब सर्वत्र है चिदाभास के संबंध से ही मन जीव ऐसे कहा जाता है तो मन ने मन में जो सामर्थ्य है मनन सामर्थ्य चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होकर के मन में सामर्थ्य है अंतस्थ है चैतन्य ज्योति तेन सवृत्तिकम मनो येन ब्रह्मणा मतम येन आहुर मतम जिसे मन प्रकाशित हो जाता है विषय हो जाता है तेन तेन का अर्थ चैतन्य चैतन्य ज्योति से सवृत्ति का मनो मन प्रकाशित होता है मन की वृत्ति के साथ मन में वृत्ति है काम संकल्प विचिकित्सा ये सब वृत्ति है परिणाम वृत्ति भी सहिति सवृत्तिकम मन वृत्तियों के साथ मन जिस चेतन से प्रकाशित है जब मन को प्रकाशित करता है चेतन तो मन की वृत्ति को भी प्रकाश करता है ये तेन सवृत्तिक मनो येन ब्रह्मणा मतम मनन में मनन सामर्थ्य चैतन्य से होने से वृत्ति सहित मन जिस ब्रह्म से प्रका मतम बतकात विषयकृतम व्याप्तम ब्रह्म से व्याप्त है मन और वृत्ति मन भी व्याप्त है मन में जो परिणाम वृत्ति सब व्याप्त है जिस चैतन्य से चैतन्य उसको विषय करता है चैतन्य व्यापक रूप से सर्वत्र है चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है चैतन्य का विषय हो गया चित भास्यत्वम चित प्रकाश्यत्वम सर्वत्र है मन में भी विषय कृतम व्याप्तम आहु आहु वत कहते हैं कथयन्ति कथयन्ति का कर्ता ब्रह्मविद ये आहुर मनोमतम मनोमतम इति आहु आहु का कर्ता कौन है ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञान को कहते मन भी उसके द्वारा व्याप्त है मनो उसको विषय नहीं करता है मन स्वयं उसके द्वारा विषय हो जाता है प्रकाशित तो होता है तस्मात् तदेव मनस आत्मानम प्रत्यक चेतयितारम ब्रह्म विद्धि इसलिए तदेव ब्रह्म तम विद्धि जो मनस आत्मा न मन का जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा चेतयितारम मन जड़ है उसमें जो चेतन देने करने वाला चेतयितारम चेतयिता चेतन चेतन चेतन करने वाला मन में चेतन करने का सामर्थ्य चेतय चे, मन में ब्रह्म की अभिव्यक्ति चिदाभास उदय होने से मन चेतन जैसे होता है मन का जो आत्म स्वरूप है ब्रह्म प्रत्येक चेतयितारम प्रत्येक है चेतन करने वाले मन को भी चेतन जैसे चिदाभास युक्त होने से मन चेतन जैसे लगता है ब्रह्म विधि उसको समझो अर्थात मन का प्रकाशक जिस प्रकार से युक्त होकर के मन विषय ग्रहण करता है चेतन जैसे लगता है प्रतिबिंब चिदाभास है तो उसका बिंब रूप चेतन है मन जड़ है चेतन जैसे व्यवहार चेतन जैसे लगता है मन जाता है मन से हम जानते हैं तो मन को जो प्रकाश करता है विषय करता है मन को जानने वाला वही प्रकाश करता है मन बुद्धि के एक लेकर के बुद्धि का जो साक्षी बुद्धि को जानने वाला आत्मा है तो बुद्धि को प्रकाश करता है जो चेतन ब्रह्म उसको समझो और बुद्धि के द्वारा प्रकाश से जितने ब्रह्म बुद्धि का प्रकाशक और सारे पदार्थ बुद्धि से प्रकाशित मन बुद्धि से प्रकाशित है चेतन ब्रह्म के संबंध से मन बुद्धि अंतकरण चेतन जैसे होकर के सारे पदार्थ का प्रकाशक है इनमें सारे पदार्थ में कोई भी पदार्थ उसको प्रकाश नहीं कर सकते बुद्धि को भी प्रकाश नहीं करते घटपट आदि घटपट को पट घट को भी प्रकाश नहीं करता है बुद्धि को भी प्रकाश नहीं कर सकता है कोई भी पदार्थ बुद्धि के प्रकाशक को चेतन को प्रकाश नहीं कर सकता है किंतु बुद्धि से प्रकाशित सारे पदार्थ है तो बुद्धि में प्रकाशन करने का सामर्थ्य है अंतकण में अंतकण में जो प्रकाशन सामर्थ्य है वो अंतकण ब्रह्म को प्रकाश कर दे सारे पदार्थ को प्रकाश करता है तो तो बुद्धि में प्रकाशन सामर्थ्य ब्रह्म का ही प्रकाशन सामर्थ्य ब्रह्म के निमित्त ब्रह्म प्रतिबिंबित युक्त हो जाने से बुद्धि में प्रकाशन सामर्थ्य आया बुद्धि का जो प्रकाशक है ब्रह्म जिस प्रकाश युक्त होकर के बुद्धि सारे प्रपंच को प्रकाश करती है वह बुद्धि उसको प्रकाश नहीं कर सकता है तो ये ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं बुद्धि का प्रकाशक जो बुद्धि का विषय है वही आत्मा है प्रत्यक्ष ब्रह्म उसको समझो ब्रह्म तुम विधि बुद्धि का विषय जितने जिसको हम जान सकते हैं जिसका विचार कर सकते हैं जिसका स्मरण होता है जितने ज्ञेय पदार्थ है जो जाना जाता है जाना जा सकता है सारे ज्ञेय पदार्थ बुद्धि के द्वारा प्रकाशित वह कुछ नहीं है मिथ्या है बुद्धि का प्रकाशक ब्रह्म समझ नेदम यदिदम उपासते बुद्धि का जो विषय है इदम तेन जिसका ज्ञान होता है ग्रहण होता है वो सब जड़ है वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो सारे पदार्थ के प्रकाशक बुद्धि अंतकरण का भी प्रकाशक है अंतकरण जिस प्रकार से प्रकाशित होकर के सारे पदार्थ को प्रकाश करता है आत्मानं प्रत्येक चेतयितारं ब्रह्म विधि नेदम यदि तुम उपासते ये नेदम यदि तो उपासित पूर्व मंत्र में आया इस मंत्र में आगे भी आएगा एक ही प्रकार है इदं न भिन्न बुद्धि से जिसकी उपासना करते परिचिन्न वह ब्रह्म नहीं है जो उपास्य मैं उपासक हूँ उपास्य मेरे से भिन्न है भिन्न बुद्धि से उपासना करते हैं तो वस्तु परिचिन्न हो गया परिचिन्न ब्रह्म नहीं है प्रतीक उपासना प्रामाणिक है प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करना उपासना का फल मिलता है किंतु प्रतीक को परिच्छिन्न बुद्धि से उपासना नहीं करे ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात प्रतीक में सालग्राम में विष्णु मूर्ति बनाते हैं शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते मनो ब्रह्म इति उपासित ब्रह्म को प्रतीक नहीं समझे परमात्मा इसे प्रतीक रूप है छोटी मूर्ति बनाया हमारे भगवान इतने इसमें व्यापक परमात्मा की दृष्टि करनी चाहिए उपासना करे प्रतीक प्रधान होता है प्रतीक उपासना में प्रतीक प्रधान है वही स्नान अभिषेक चंदन पुष्प भोग सब चढ़ा प्रतीक है किंतु दृष्टि करे ब्रह्म बुद्धि परिचिन बुद्धि नहीं करे प्रतीक में उपासना करते समय भी परब्रह्म व्यापक है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्ष आदि ब्रह्म सूत्र में आया प्रतीक उपासना करते समय प्रतीकों को ब्रह्म समझे या ब्रह्म को प्रतीक समझे ब्रह्म को प्रतीक समझे परिचिन समझे तो व्यापक और छोटा सो निकृष्ट हो जाता है राजा को यदि कोई सन्य कहे और ब्रह्म दृष्टि करे छोटे में उत्कृष्ट दृष्टि करे तो उत्कर्ष होता है फल अधिक होता है जो सामान्य नौकर को कहा ये मालिक है खुश हो जाएगा सामान्य लोक सिद्ध न्याय है उत्कर्ष बुद्धि करे इसी प्रकार ये अब साधक को चाहिए जहाँ जिसको देखते हैं किसके प्रति घृणा भाव निकर्ष बुद्धि नहीं करे कुछ गुण उसमें है आपसे अधिक गुण मिल जाएगा ढूंढो तो देखो तो सब में गुण है गुण ग्राही बने सर्वत्र गुण देखे कहीं भी से हे बुद्धि निकृष्ट छोटा भी है ठीक है छोटा होने से क्या देखने में आशा नहीं बोल नहीं पाता छोटा है अथवा नहीं पढ़ा है तो भी उसके पास कुछ गुण होगा ढूंढो तो देखो आपके पास ऐसे गुण नहीं उसके पास गुण है छोटे बच्चे में भी कुछ कितने गुण देखो तो दिखेगा तो इसलिए कहीं भी निकृष्ट बुद्धि निकृष्ट बुद्धि नहीं करना चाहिए तो प्रतीक में भी ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करते हैं वो प्रामाणिक है किंतु परिचिन्न ब्रह्म नहीं है जिसको इदम उपासना करते हैं परिचिन्न तेन जो उपास्य है वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो व्यापक है हाँ ब्रह्म बुद्धि से प्रतीक की उपासना अब प्रतीक परिचिन्न ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है तो प्रतीक में भी है सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है शालग्राम में भी है नर्मदा नर्मदेश्वर में है पत्थर में भी है किंतु इतने ही है ये नहीं है सर्वव्यापक है इदंत्वेन मेरे से भिन्न उपास्य मैं उपासक हूं ऐसे भेद बुद्धि से जिसकी उपासना करते हो ब्रह्म नहीं क्योंकि भेद हो तो क्या हो जाएगा वस्तु परिचिन्न जो भेद जहां है किसी से भिन्न हो गया वस्तु परिचिन्न है कोई वस्तु परिचय मतलब उसका भेद कहीं नहीं उससे भिन्न कुछ भी नहीं ब्रह्म का अर्थ है अपरिचिन्न व्यापक ब्रते इसे भेद बुद्धि से परिचिन्न बुद्धि से जिसको उपासना करते वो ब्रह्म नहीं नेदम यदि तुम उपासते पंचम मंत्र के बाद षष्ठ मंत्र वाक्य भाष्य एक साथ है पांच साथ है हम्म, थोड़ा सा यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते उपासते बहुवचन उपासते उपासाते उपासते उपासना करते हैं लोग जिसका जिसकी जिसका उपासना करते ब्रह्म नहीं है भेद बुद्धि से जिसकी उपासना करते परिचन ब्रह्म नहीं है जो चक्षुषा न पश्यति लोक जिसको यत द्वितीयांत चक्षुषा यत ब्रह्म न पश्यति कोई भी मनुष्य कोई भी चक्षु से नहीं देख सकता है ये न चक्षुंसि पश्यति जिससे चक्षु को भी दिखता है लोग चक्षु को भी प्रकाश करता है जिस चैतन्य से चक्षु प्रकाशित है चक्षु का प्रकाशक ब्रह्म चक्षु में रूप ग्रहण सामर्थ्य है वो सामर्थ्य का निमित्त है ब्रह्म जो चक्षु में रूप प्रकाशन सामर्थ्य है उसका जो निमित्त है वही ब्रह्म समझो तदेव तम ब्रह्म विधि भाष्य में यत् चक्षुषा न पश्यति न पश्यति का तो न विषय करोति चक्षु से जिसको विषय नहीं करता लोक चक्षु से विषय करता रूप को रूप को विषय करेगा रूप को जो चक्षु विषय करते है चक्षुर इंद्रिय मन यदि नहीं चक्षु के साथ संबंध है तो विषय होगा नहीं होगा तो चक्षु विषय कैसे होता है अंतकण वृत्ति संयुतेन अंतकण वृत्ति संयुतेन अंतकण वृत्ति संयुक्त होकर के येन चक्षुषा न येन चक्षुंसी हां वृत्ति संयुतेन चक्षुषा न पश्यति अंतकण वृत्ति संयुतेन चक्षुषा चक्षु के साथ अंतकण वृत्ति संबंध होकर के चक्षु रूप को प्रकाश करेगा कि अंतकरण वृत्ति संबंध हो करेगी किंतु अंतकरण वृत्ति संयुक्त न चक्षुषा न पश्यति नहीं देख पाता है अंतकरण वृत्ति संयुक्त हो करके चक्षु से रूप आदि का तो प्रकाश होगा ब्रह्म का नहीं होगा ये न चक्षुंसी पश्यति ये न अंतकरण वृत्ति भेद बिना चक्षुर्वृत्ति पश्यति <clears throat> येन चैतन्यन चक्षुंसि पश्यति जिस चिद रूप ब्रह्म से चक्षु को विषय कर करता है चक्षुओं से बहुवचन दिया चक्षु चक्षु से चक्षुओं से बहुचक्षु बहुत क्यों अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुर वृत्ति ही से वृत्ति को चक्षु शब्द से लिया अंतकरण वृत्ति भेद भिन्न अंतकरण वृत्ति अलग-अलग विषय घटाकार पटाकार रूपाकार वृत्ति भेद से भिन्न वृत्ति भेद से भिन्न है युक्त वृत्ति भेद से वृत्ति विशेष से युक्त होकर के चक्षु की वृत्ति चाक्षुष वृत्ति को देखता है वृत्ति द्वितीय बहुवचन वृत्ति ही पश्यति जिस चैतन्य से चक्षु वृत्ति को प्रकाश करता है चक्षु से तो प्रकाशित नहीं होता है ब्रह्म ब्रह्म चक्षु वृत्ति को प्रकाश करता है जिस चेतन से चक्षु वृत्ति को प्रकाश करता है पश्यति का करता है लोक लोक चक्षु को देखता है कैसे चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषय करोति व्यापनोति यहां पश्यति का तो उसको विषय करता है चैतन्य आत्म ज्योति से चैतन्य रूप जो आत्म ज्योति प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश उसका विषय है चक्षु वृत्ति चक्षु वृत्ति का अवभाषक चक्षु से प्रकाशित नहीं चक्षु वृत्ति का अवभाषक जिससे प्रकाशित होकर के चक्षु में रूप प्रकाशन सामर्थ्य आता है चैतन्य आत्म ज्योति से व्याप्त होने पर ही वृत्ति युक्त होकर के जिस प्रकार मन में चिदाभास युक्त होने पर विषय ग्रहण सामर्थ्य चक्षु में भी इस प्रकार जिस चैतन्य से युक्त होकर के चक्षु में विषय ग्रह ज्ञान जनकत्व सामर्थ्य आता है विषय ज्ञान जनकत्व रूप ज्ञान जनकत्व चक्षु में है जिस चैतन्य से व्याप्त होकर के चैतन्य से विषय होकर के उसको ब्रह्म समझो यह न से पश्यति जिससे चक्षु को भी विषय करता है जो ब्रह्म को चक्षु से कोई विषय नहीं करता है बल्कि चक्षु को जो चैतन्य से विषय करता है जिस चैतन्य चक्षु को व्याप्त करता है चक्षु को प्रकाश करता है चक्षु के व्याप्त होकर के चक्षु में विषय रूप ग्रहण सामर्थ्य का हेतु है ब्रह्म चैतन्य आत्म विषय विषयी करोति येन चैतन्य आत्म ज्योतिषे येन चक्षुषी चक्षुषि पश्यति येन कहा था चैतन्यात्म प्रकाशे चक्षु को विषय करता है लोक व्याप्त करता है तदेव ब्रह्मत्वम विधि वही ब्रह्म है पंचम षष्ठ की टीका में सर्वम स्पष्टमिति न व्याख्यातम ये भाष्य स्पष्ट है क्योंकि पहले चतुर्थ मत में व्याख्यान हो गया पंचम षष्ठ स्पष्टम इसलिए व्याख्यान नहीं किया गया पंचम मंत्र षष्ठ मंत्र भाष्य क्या आगे भी सप्तम अष्टम का भी व्याख्यान नहीं केवल भाष्य है ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि